कुछ है इतना दुख है और जितना है वो बहुत ध्यान देने योग्य नहीं लेकिन हम उसको बहुत बड़ा करते देखते हैं दोनों देखिए तो दोनों खत्म हो जाता

जंगल में पहाड़ी के पास रहता है धूल में बैठा हुआ है कंफ्यूज नहीं आया तो कंफ्यूज उसने ये भी नहीं कहा कि बैठ जाना उसको तो कंप्यूटर ने कहा कम से कम इतना शिक्षा चाहते व्रत में कि मुझसे कहिए कि मैं बैठ जाऊँ उसने कहा कि मैं सोचता था कि तू बुरा होगा तुझे अकल आ रही है तो अभी ये रंग करेंगे कपड़े पहन के और नवाज नाश्ते नाश्ते का मैं ने कैसे पूछ दिया अभी अभी जी निकाल आ रही है हमारा भी कोई अपने मंत्री मंत्री के कपड़े पहन के अभी तो बच्चा बनाऊंगा इसलिए फिर मैंने कहा क्या कहना है इससे बैठ में फिर वो कंप्यूटर कहने लगा कि आपका क्या ख्याल है क्या नियम होने चाहिए तो उसने कहा जब तक नियम हो गए तब तक आदमी छूटा होगा हम एक आदमी बताते हैं जिसका कोई नियम नहीं जिसका भाव ये वैसे है जैसा है नमस्कार अरे बढ़िया उसके रेफरेंस तो फिर बहुत है कहते हैं उसका शिष्य उसके महत्व और फिर तो पूरे चीन में फैले हुए अब सच बात है इन सब के हिस्टोरिक होने को मतलब नहीं इन सारी बातों का हम्म। लेकिन वो ऐसा फिगर है लाओस पे फिर उसके बाद कथाएं जोड़ी जाती रही जोड़ी जाती है और वो फिर एक उसको तो मिथ बन गया उसका हाँ। हाँ, तो कोई सवाल नहीं ये कोई सवाल नहीं है फिर निशान करें नष्ट हुआ कोई कोई मुसीबत जब बुद्ध महावीर थे वो उस वक्त दुनिया में सारी दुनिया में कुछ बड़े बदलाव मतलब हुए एक ही और मेरा ऐसा ख्याल है कि ये जैसे समुद्र में लहर उठती है क्योंकि तो छोटी लहरें तो एक बड़ी लहर उठती थी इस कोने से उस कोने तक तो ऐसी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कभी लहरें उठती है तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सब जगह पीस फील होती है वो सुकरात हुआ तो अरस्त उसी वक्त उधर महावीर बुद्ध और महावीर बुद्ध के वक्त छह और अद्भुत लोग थे हिंदुस्तान में इसी कीमत के लोग अच्छा। लेकिन वो इतने अद्भुत से उन्होंने संप्रदाय में बनाए इसलिए खो अच्छा। इसी कीमत के बल्कि कई मामले में उसी अद्भुत रहे होंगे तो कुछ बता बताचार्य एक अजित के संबंध एक व्यक्ति था मखनी गोसाल गोशालक लगता तो बहुत उल्लेख महावीर हाँ। ये आठ लोग थे एक साथ बिहार में थे आठों के आठों उधर चीन में लाओस से कन्फ्यूशियस चौंते वो सारे लोग और इस सारी दुनिया में बैल्ट की तरह एक एक लहर उठी हम्म। और उस चीज को जिन लोगों ने छुआ है उनका फिर मुकाबला नहीं हुआ किसी बहुत अधिक लोग हुए ह्यूमन कॉन्सियसनेस में कभी लहरें आती हम तो ऐसा लगता है उन पर तो देख लेंगे में मैं अलग आप अलग हम अलग लेकिन हमारी कॉन्सियसनेस इतनी इकट्ठी है कि जब लहर आती है मुझे जब लहर आएगी तो मेरे साथ बहुत से लोगों को छू लेगी जिनको हमें पता भी नहीं चलता ऐसा जो ऐसा होता है कि पूर्णता पाने से लोग जैसे आपने बताया ना मकली गोसा ने कुछ नहीं बताया वैसे कोई बताया भी नहीं हो ऐसा भी होता अनेक लोग उसको बताने का मन भी नहीं होता अनेक लोग अनेक लोग असल में बताना एक बात है और जानना बिल्कुल दूसरी बात है बुद्ध से किसी ने पूछा बुद्ध के साथ दस हजार भिक्षु चलते किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप इतने दिन से सिखा रहे हैं तीस वर्षों से दस हजार भिक्षु बनते हैं इनमें से कुछ आप जैसे हुई कि नहीं बुद्ध ने कहा बहुत तो उसने कहा उनको कोई पता नहीं तो बुद्ध ने कहा वो चुप हमें बोल रहा हूँ हम्म। और यही सर्व जैनों में तीर्थंकर और केवली का फर्क है केवली तीर्थंकर की केवली है लेकिन तीर्थंकर टीचर भी है हाँ। तो केवली सिर्फ केवली है वो कुछ बोलता नहीं वो टीचर नहीं तो महावीर जैसे बहुत लोग हुए लेकिन महावीर तीर्थं का है अभी भी भारत में ऐसे लोग हमेशा है लेकिन होता क्या है ना तो जैसे कि अगर मेरा व्यक्ति किसी महिला को ज्ञान मिल जाए तो वो गाएगी नाचेगी और प्रकट करेगी क्योंकि वो जो ट्रेनिंग है उसके माइंड की नाचने गाने की वो ज्ञान उसका नाच गाने से निकलेगा पीछे अगर कोई आदमी टीचर है मैं उसका टीचर का और अगर वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो वो ज्ञान टीचिंग से बहेगा लेकिन एक आदमी टीचर नहीं है एक आदमी नाचने वाला नहीं एक आदमी कभी नहीं है और वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो उसका ज्ञान बेटा रह जाए उसको तो डरने को कोई निकास नहीं तो अनेक लोग चुप रह जाते हैं करने का मन नहीं सही नहीं मन का सवाल नहीं व्यक्त करने का माध्यम नहीं होता है भगवान पैदा होगा बिल्कुल पैदा होगा और उसी से ऐसा लगने लगेगा की भगवान ने सब कुछ मिल रही है तुम्हारी तुम्हारा अपना गुण चालीसवें के बारे में इसका कुछ कहा जाता है उसके बारे में आपका क्या है चालीसवें क्या

इतना भय किस बात को तो आजकल अभी ऐसा ही किया जाता है तो अभी लड़के लड़कियां साथ में घूमती है बोलेगा आप आपने कल बात बोली हाँ। नीचे चला जा रहा है अगर ऊपर नहीं है तो नीचे जाने की बात ही नहीं है ना आपने कल बोला था वो जा रहा हम आदमी जिस तरह से जीता है वो चरित्र हुआ आदमी जिस तरह से जीता है वो चरित्र उनका जागरूक आदमी जो भी करेगा वो चरित्र असली सवाल भीतर जागे हुए होने का तो हुआ आदमी न स्त्री से डरता है न बांधता है न स्त्री का पीछा करता है तो सोया हुआ आदमी के दोनों लक्ष्य सोया हुआ आदमी आप तो स्त्री का पीछा करेगा और न स्त्री से भागेगा तो दोनों हालत में स्त्री को मानता है हम्म। अच्छा नहीं यार हम ध्यान करते हैं तो कभी प्रकाश के बिंदु ऐसे वो प्रकाश के बिंदु वो कल्पना की नहीं है वो कल्पना की नहीं है वो असल में हमारी जो इंद्रिया है उनके बहुत कुछ अनुभव संग्रहित होते जैसे आँख के स्नायु में प्रकार से सूक्ष्म अनुभव संग्रहित हो जाता है हम्म। तो जैसे पीछे के स्नायु रिलैक्स होंगे वो सूक्ष्म बिंदु प्रकाश के वहां से रिलीज होंगे काम के अनुभव काम के अब उसमें एक तो काम जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये असली काम नहीं अपने काम के भीतर का यंत्र है जिसको संग्रहित उसमें ध्वनि के बहुत से अनुभव संग्रहित है सूक्ष्मतम तरंग संग्रहित हो गई तो जब वो रिलैक्स होंगी तो बहुत ध्वनिया बजेंगी भीतर जिसको साधु सन्यासी समझते हैं कि अनंतनाद हो रहा है तो क्यों हो रहा है कुछ नहीं कहने के तो संगठन हो रही हो रही मैं आपसे यही बात करता हूँ मैं जब ध्यान करता हूँ तो पीछे जैसे कि कभी मशीन चले चलती रहती कभी कभी वो डिस्टर्बिंग होती है तो उसको तो सबको देखना प्रकाश के बिंदु हो धनिया हो सुगंध आ सकता है उतना अनुभव है उसको बहुत अद्भुत सुगंध आ सकती तो तो है ध्यान में हाँ वो तो जैसे मेरी अभी तक सुगंधित होना शुरू होते हैं तो कई अनुभव रिलीज होते हैं जिनके आपको पता चले तो कि अनुभव हमारे पास तो, तो उन सबको देखना है उसमें कुछ मूल्य नहीं मिलेगा जैसे तो जैसा नहीं है जो अच्छा। <laughs> बात पूछा लेकिन एक बात है कि वो ध्यान गहरा जाता तभी ये सब मैं देखता हूँ हाँ, तो बराबर देखे शांति से देखते रहे तो धीरे धीरे धीरे धीरे मैं तो ये धनी से देखना घुबड़ा गया हूँ तो वो आती रहती है वो जब आए तो उसके प्रति जागरूक हूँ उसको बहुत फायदा होगा अच्छा। तो बहुत फायदा होगा तो जाओ इसीलिए जैसे हम कुछ रखते हैं उसके ऊपर तो, तो, तो हम्म। अच्छी बात पूछी जो सिद्धियाँ है पढ़ते हैं प्रवेश बहुत अंदर की बात है नहीं बहुत अंदर की बात है लेकिन ऊपर की बात है शरीर से आत्मा से जाने का जो मार्ग है वहाँ बीच में मन की बड़ी सूक्ष्म शक्तियाँ जिनका हमें पता नहीं जैसे मन शांत होता है वो शक्तियाँ जल्दी सकती है अपने आप भी जग सकते हैं कभी साधारणता अपने आप नहीं जगती शरीर की चेष्टा करें तो जग सकते हैं जैसे की शरीर है हमारा हमें अंदाज नहीं प्राण मूर्ति है उसमें शरीर की कुछ है जगा नहीं जो हमारे शरीर में भी है तो पास शरीर नहीं शरीर तो यही है स्ट्रक्चर यही है सब मामला यही है यही फेफड़े है यही हार्ट है यही हर्ट है यही पैर है लेकिन निरंतर चेष्टा करके उन सबकी शक्तियाँ सूक्ष्म बढ़ा ले सब वो कार के नीचे लेट जाता है छाती को सकार निकल जाती है और हाथी को छाती को खड़ा कर सकता है और ट्रेन के इंजन को भी पीछे पकड़ ले तो आगे बढ़ना मुश्किल तो ये जो ये शरीर की सूक्ष्मतम शक्तियों का विकास है तो, तो कसरत से किया होगा हाँ तो इसी तरह माइंड की सूक्ष्म शक्तियों की कसरते हैं और उनसे से ज्ञान हो जाते हैं माइंड की सूक्ष्म शक्तियों की कसरते हैं यहाँ तक चौथरे से बाने के दूसरे शरीर में जाता है ये सब बातें हाँ हाँ हाँ ये बिल्कुल इसमें जरा भी कठिनाई नहीं जरा भी कठिनाई नहीं है बल्कि शरीर को राम मूर्ति जैसा बनाना थोड़ा कठिन मामला है क्योंकि शरीर बहुत स्थूल माध्यम है उसके साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मैं बहुत सूक्ष्म माध्यम है उसके साथ कम मेहनत करनी पड़ती है चंचल उसका तो तो शक्ति है चंचल होना उसकी शक्ति है चंचल ना हो तो तुम बुद्धि हो गए मैं तो मानता हूँ कि मन हर क्षण छोड़ता है मन का तो शांत होना स्वभाव है शायद ऐसा लगता है स्वभाव क्योंकि हर छोड़ता है उसकी शक्ति है अब वो टेंशन में रहते तुम बैठ हो गए इडियट का चिंतन नहीं रहता पता जितना बुद्धिमान आदमी उतना चिंतन नहीं रहता वो चंचलता जो उसकी गति है डायनामिज्म है उसके भीतर तो ये सब चीज जब चंचलता रुकती है तब आ जाती है हाँ चंचलता को रोक के या चंचलता को एक ही बिंदु पर लगा के केंद्रित करते हैं वो चंचलता ही है उसमें चंचलता में फर्क नहीं पड़ता अच्छा। हाँ फर्क इतना पड़ता है जैसे कि एक आदमी उधर से कूद के उधर गया उधर से कूद के उधर गया एक आदमी कूद पकड़ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान और एक आदमी एक स्थान पर कूद रहा है कुंभ दोनों का जारी लेकिन एक आदमी एक ही स्थान पर कूद रहा है कुंभ जारी स्थान नहीं बदल रहा है कूद रहा है एक ही जगह खड़े होकर कूद रहा है तो जिसको तुम एकाग्रता कहते हो एकाग्रता नहीं है वो चंचलता एक ही बिंदु पर माइंड एक ही जगह कूद रहा है जैसे बोला राम राम राम राम माइंड का पुण्य जारी है अगर राम कृष्ण बुद्ध महावीर ऐसा कहते उनको लगेगा कि बदल रहा है और अगर राम राम राम तो हमको लग रहा बदल नहीं रहा लेकिन बदल रहा है पूरे वक्त एक राम से दूसरे राम तो जाने में उतनी ही चलाएंगे जितनी राम से दूसरे को जाने में जो जंप है वो उतनी गैप जो है वो उतनी लेकिन वो एक ही शब्द की वजह से एक ही जगह कूद रहा है जगह नहीं बदल रहा है सुनाम जारी है माइंड तो पूरे वक्त ही कूदता है जब तक है तब तक कूदता है अगर उसको एक जगह सुनाया जाए तो उस जगह की शक्तियां जगनी शुरू हो जाती है जिस जगह पर तो उसी सेंटर से सब सारी शक्तियों के तो चंद्र को